विरह पदावली सूरदास जी गोपिका वचन परस्पर सुने है श्याम मधुपुरी जा सुने है श्याम मधुपुरी जा सुने है श्याम मधुपुरी जा सकुचन कही न सकत काहू सौ काहू सौ गुप्त हृदय की बात संकित बचन अनागत को संकित बचन अनागत को कह जो गयऊ अधरात नींद न पर घट नहीं रजनी रहे घटय नहीं रजनी कब उठ देखो प्रा सुने श्याम मधुपुरी जात सुने हैं श्याम मधुपुरी जात नंदन धन सोम ऐसे लागे नंदन धन तोम ऐसे लागे जो जल न पात सूर श्याम संग तय बिछुरत है सूर श्याम संग तय बिछुरत है कब यह कुशलास गोपी कह रही है सके सुना है श्याम सुंदर मथुरा जा रहे हैं मैं संकोच के मारे अपने हृदय की बात गुप्त किसी से कह नहीं सकती आधी रात को ही कोई शंका भरी उनके जाने की भविष्य की बात जो कह गया सो न तो नींद आती है और न रात ही शीघ्र समाप्त होती है कब सवेरा होने पर उठकर मोहन को देखूंगी मुझे नंद नंदन तो ऐसे तटस्थ लगते हैं जैसे जल में कमल के पत्ते सूरदास जी अब श्याम सुंदर हमारे साथ से बिछुड़ते हैं कब कुशल पूर्वक लौट आएंगे चलन को कहियत है हरिया चलन को कहियत है हरिया अब ही सखी देखी आई है करत गमन को साज चलन को कहियत है हरिया कोई कंस कपट करी पठयो कोई कंस कपट करी पठयो कछु संदेश दयान सो तो हमरो लिए जात है सो तो हमरो लिए जात है बर बस अपने साथ सो यह सूल नाही सुनी सजनी सो सू यह सूल नाही सुनि सजनी सही धरी जियलाज धीरज जात चलत अब ही मिली धीरज जात चलो अब ही मिली दूर गए कह काज छाड़ो जग जीवन की आशा अरु गुरजन की कान बिनती कमल नयन सो करिए बिनती कमल नयन सो करिए सूर समय पहचान रघुनाथ जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी कहा जाता है कि श्याम सुंदर आज मथुरा जाने वाले हैं अभी एक सखी उन्हें जाने की तैयारी करते देख आई है कंस ने कपट करके किसी एक व्यक्ति को उसके हाथ कुछ संदेश देकर भेजा है सो वह तो अपने साथ हमारा सर्वस्व ही लिए जा रहा है सखी सुनो सो यह कष्ट चित्त में लज्जा रखकर नहीं सहन कर लेना चाहिए मेरा धैर्य छूट रहा है चलो अभी मिलें उनके दूर चले जाने पर क्या काम होगा अब जगत में जीने की आशा और गुरजनों का संकोच छोड़ दो अब तो समय को पहचान समझ कर कमल लोचन श्याम सुंदर से ही न जाने की प्रार्थना करनी चाहिए चलत हरि धिक तो रहत ये प्राण चलत हरि धिकतो रहत ये प्राण कह वह सुख अब सहो दुसह दुख कह वह सुख अब सहो दुसह दुख उर कर कुलिस समान कह वह कंठ श्याम सुंदर भुज कह वह कंठ श्याम सुंदर भुज करती अधर रस पान अचवत नयन चकोर सुधा विधु अचवत नयन चकोर सुधा विधु देखत मुख छवियान जाको जग उपहास कियो तब जाको जग उपहास कियो तब छाड़ो सब अभिमान सूर सुनिधि हम कह बिछुरत सूर सुनिधि हम कह बिछुरत कठिन कर्म निदान कठिन करम निदान सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी श्याम के चल देने पर यदि प्राण रह जाए तो इन्हें धिक्कार है कहाँ वह उनके साथ का सुख और कहाँ अब हृदय को वज्र के समान बनाकर असहनीय दुख सहना कहाँ हम अपने गले में श्याम सुंदर की भुजाओं को रखकर उनके अधरामृत का पान करती थी और उस मुख चंद्र की अलौकिक शोभा देखते हुए हमारे नेत्र रूपी चकोर उस चंद्रमा के अमृत को पीते थे तब जिसके कारण संसार के लोगों ने हमारी हंसी उड़ाई थी तथा हमने भी सब अभिमान छोड़ दिया था आज वही उत्तम संपत्ति हमसे बिछुड़ रही है कर्म प्रारब्ध का भोग कठिन है श्याम चलन चहत कछो सखी एकयाई श्याम चलन चहत कहो सखी एकयाई बल मोहन बैठे रथ सुपलक सुत चढ़न चहत यह सुन के भई चकित बिरह दव लगाई दुख दुख सब धरडी परी ज्वाला झरलता गिरी मुनो तुरत जलद परसी सुरती निरपरसी आई सब नंद द्वार बैठे रथ दो कुमार जसमति लोटत भुवन पै निठुर रूप दर्शी कौन पिता कौन माता आप ब्रह्म जगत धात राखो नहीं कछु नात को चित्त माही आतुर अक्रूर चढ़े रसना हरिना मरढ़े सूरज प्रभु कोमल तन देख चैन नाही तुलसी जी के शब्दों में सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी श्याम सुंदर आज मथुरा जाना चाहते हैं यह अभी एक सखी ने आकर कहा है और कहा है मोहन और बलराम जाने के लिए रथ पर बैठ गए हैं तथा अक्रूर उस पर चढ़ना चाहते हैं यह सुनकर वह गोपी विरहवश इस प्रकार स्तंभित रह गई मानो किसी ने उसे आग लगा दी हो और जो वहां थी वे इस प्रकार चक्कर खा खा कर धरती पृथ्वी पर गिर पड़ी मानो आग की लपट से झुलस कर लताएं गिर पड़ी हों फिर क्या था शीघ्र ही मेघ ने बरस कर सुरति ध्यान के जल से उनका स्पर्श कराया अब वे सब की सब उठकर श्री नंद जी के द्वार पर आई और उन्होंने देखा दोनों कुमार रथ पर बैठे हैं और यशोदा जी पृथ्वी पर लौट रही हैं इस प्रकार श्याम सुंदर का निष्ठुर रूप देख उन्होंने देखा वे देखकर परस्पर कहने लगी अरे इनके कौन पिता और कौन माता है संपूर्ण सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा तो ये ही हैं इसीलिए इन्होंने किसी के साथ किसी संबंध की स्मृति नहीं रखी इतने में ही अक्रूर भी वाणी से श्री भगवान नाम लेते हुए रथ पर शीघ्रता से चढ़ बैठे प्रभु के कोमल शरीर को देखकर वे गोपियां बेचैन हो रही थी बिन पर उपराग तुम है चलन कहो बिन पर उपराग गया हरि तुम है चलन कहो हो जाने वो ही राहु रमापति कत भय शोधन जो वह तक बीच बीच नयन मिली अंजन रूप रहो विरह संधि बल पाई मनोहटी हैतिय बदन गजो दुसह दसन मनु धरत श्रमित यति परसि परत न देखव देव अमृत अंतर ते ऊपर जात बसो अब यह ससिय सो लागत जो बिन माखन ही मजो सूर सकल रसना निधि दर्शन बिन मुख छवि अधिक दशो बिन पर बे उपरा गया जहरी तुम है चलन कहो सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही हैं श्याम सुंदर तुमने जो जाने की बात कही सो यह तो बिना पर्व पूर्णिमा के ही आज ग्रहण लग गया हे रमाकांत पता नहीं वह राहु कहाँ से इस चंद्रमा का पता पा गया जान पड़ता है वह नीच राहु अपना अवसर देखता हुआ आंखों के बीच अंजन के साथ मिलकर रह रहा था सो उसने वियोग रूपी पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि का बल पाकर मानो हठपूर्वक गोपियों के मुखचंद्र को ग्रथ लिया और वह अत्यंत थका होने पर भी अपने असहनीय दांत हमारे मुखों पर रख रहा है जिसके कारण उसका स्पर्श सहा नहीं जाता इसी से हे देव देखो मुखचंद्र के भीतर से स्नेहामृत अस्त्र रूप में ऊपर बह जा रहा है अब यह चंद्रमा ऐसा निस्तेज फीका लगता है जैसे बिना मक्खन का मट्ठा हो समस्त रसों के निधान आपके दर्शन के बिना उन गोपियों के मुख की शोभा ने इन्हें अधिक जलाया दुखी किया है हर की प्रीति माही कर के हर की प्रीति माही कर के आई अक्रूर चले श्याम ही इतना ही कौ रथ आगे कीन होम कंचन कौ रथ आगे कीन हो हर चढ़ाए बर के सूरदास प्रभु सुख के दाता सूरदास प्रभु सुख के दाता गोकुल चले उजर के माही कर गए सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी श्याम की प्रीति हृदय में चुभ रही है अक्रूर आकर श्याम को ले जा रहे हैं किंतु ऐसा कोई हमारा हितैषी नहीं है जो उन्हें जाने से रोके इस अक्रूर ने सोने का रथ आगे लाकर खड़ा कर दिया और बलपूर्वक श्याम को उस पर चढ़ा लिया सुख के द्वाता हमारे स्वामी इस प्रकार गोकुल को उजाड़ कर चले जा रहे हैं सब ब्रज की शोभा श्याम सब ब्रज की शोभा श्याम हर के चलत भई हम ऐसी मन कुसुक कुसुम निर्मायल दाम हर के चलत भई हम यसी मन कुसुम दाम देखियत हो तुम क्रूर विषम से सुन्य श्रूर अक्रूर ही दाम विचरत होन आन गृह गृह क्यों विचरत हो आन गृह गृह क्यों शिशुलाई गिप को यह काम सब ब्रज की शोभा श्याम सब ब्रज की शोभा श्याम सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी श्याम सुंदर पूरे ब्रज की शोभा है मोहन के जाते ही हम ऐसी हो गई जैसे निर्माल्य देवता पर से उतार कर फेंकी गई पुष्पों की माला में लगा धागा अरे अक्रूर तुम्हारा नाम तो अक्रूर सुना था किंतु तुम तो अत्यंत क्रूर एवं भयंकर से दिखाई देते हो दूसरों के घरों में क्यों नहीं जाते राजा के बालकों के योग्य ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए उसने श्याम बलराम को मथुरा बुला भेजा है